और हम उनके दिलों और आंखों को ऐसे ही फेर देंगे कि वो ईमान नहीं लाएंगे जैसे कि वो पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए और हम उनको उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देंगे